और उन पर एक जबरदस्त बारिश बरसा दी गरज बहुत बुरी बारिश थी जो उन पर बरसी जिन्हें पहले से डरा दिया गया था